सहना सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै ओ आगे श्लोक संख्या सत्रह सोलह का भावार्थ कर चुके हैं कल पढ़ा नहीं था हाँ उसका अर्थ तो मैंने बता दिया था कर लेते हैं अभी साथ में कर लेंगे सत्रह पढ़ेंगे तृण नचिकेता एत्य संधि त्रिकर्म कृतरति जन्म मृत्यु ब्रह्मज्जम देव ईड्यम विदिवा निचाय्य इमाम शांतिम अत्यंतम एति तब पिछले श्लोक में जो बात कल मैंने बताई थी श्लोक तो नहीं पढ़ा था उसका अर्थ मैंने आपको संकेत किया था कि यह जो अग्नि है जिसके विषय में बताया गया जो दूसरे वर में पूछा गया था और उसका बड़ा विस्तार से अर्थ समझा दिया गया था तो वह अग्नि जो है वो नचिकेता अग्नि के नाम से कही जाएगी ऐसा वहाँ पर आचार्य की ओर से कहा गया था अब उस अग्नि के जो लाभ है वो बता रहे हैं कह रहे त्रिणाची केता मतलब ये जो अग्नि है क्योंकि यज्ञ या याग अनेक प्रकार के हैं उसमें से कुछ ऐसे होंगे जो बार बार नहीं किए जा सकते जैसे यहाँ साल में दो बार शिविर होते हैं तो हर साल दोनों शिविरों में कोई आता ही रहे ऐसा मुश्किल है तो कुछ याग ऐसे होते हैं जो बड़े पुरुषार्थ उसमें करना पड़ता है बहुत व्यय होता है बहुत समय लगाना पड़ता है तो उसको बार बार नहीं किया जा सकता है कोई तो ऐसे होंगे जो शायद जीवन में एक हाथ बारी किए जाना संभव है तो इसमें कहा कि तृणाचिकेता कि तीन बार यदि इस अग्नि को जो चयन कर लेगा यानी इस याग को जो तीन बार कर लेगा जिस यज्ञ में अग्नि का नाम क्या है नचिकेता अग्नि है उस नचिकेता अग्नि वाले यज्ञ को जो तीन बार जीवन में कर लेगा उसको क्या लाभ मिलेगा कहा त्रिभित्य संधि त्रिकर्म कृत तरति जन्म मृत्यु कि जन्म और मृत्यु को वो तर जाएगा यानी जो स्वर्ग लोक प्राप्ति की बात कही गई थी वो स्वर्गलोक प्राप्ति उसको होगी यहां मुक्ति का प्रसंग नहीं चल रहा है यहां स्वर्ग की बात चल रही है जो कि सामान्य जीवन से सामान्य सुख से कहीं बहुत उत्कृष्ट हैं जैसे कि इसी धरती पर हम देखें तो कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर अति उष्णता है कुछ ऐसे स्थान है जहाँ अति शीत है कुछ ऐसे स्थान है जहाँ सम शीत है सम उष्णता है कुछ ऐसे स्थान है जहाँ रहना बड़ा कठिन है कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ रहने की बड़ी इच्छा होती है रमणीय स्थान है वहाँ का जल वहाँ की वायु वहाँ का अन्न वहाँ का स्वस्थ वहाँ का शरीर वो सब कुछ अच्छा है उन सब में भेद मिलेंगे आपको स्थान स्थान की तुलना में तो अच्छे स्थान पर जहाँ स्वस्थ भी अच्छा हो अन्नपान भी अच्छा हो वायु भी अच्छा हो वहाँ पर निश्चित रूप से सुख अधिक ही होगा वो स्वर्ग ही है तो ऐसे ही लोक लोकांतर में भी कहीं ना कहीं अंतर मिलेंगे ही इस धरती की तुलना में कोई श्रेष्ठ लोक भी होंगे जहाँ यहाँ की तुलना में अधिक लंबा आयु होगा वहाँ स्वस्थ भी अधिक होगा और भी उत्कृष्ट वहाँ पर भोग के विषय होंगे तो उस प्रकार से लोगों में भी अंतर मिलेगा जैसे एक ही इस लोक के अंदर स्थान स्थान में अंतर है वैसे लोक लोक में भी अंतर मिलेंगे तो उस अग्नि का आधान करना यानी उस अग्नि को चयन करना उस यज्ञ को करना सरल भाषा में कहें तो शास्त्र की भाषा में कहते अग्नि का चयन करना सामान्य भाषा में कहें तो उस याग को करना तो उससे क्या मिलेगा कहते जन्म मृत्यु को तर जाएगा यानी एक ऐसे विशेष लोक की प्राप्ति होगी जिसको स्वर्ग लोक कहें जहां बहुत दीर्घायु उसको मिलेगी शरीर का सामर्थ्य बहुत होगा भोग के साधन बहुत होंगे तो वो सारा फल होगा उस याग को करने से जिसमें अग्नि का नाम क्या है नचिकेता अग्नि है और कहते हैं कि वो जो याग है उसमें और क्या करना है कह रहे उसमें देवम ईड्यम विदित्वा देवता की स्तुति करनी है जो देवता स्तुति करने योग्य है वह ईश्वर ईश्वर की स्तुति कर की जानी चाहिए क्योंकि ऐसे यागों के अंदर सामगान होते हैं और सामगान के माध्यम से ईश्वर की स्तुति भी की जाती है तो ईश्वर की स्तुति भी वहाँ पर होगी और ऐसा करके क्या होगा शांति अत्यंतम इति अत्यंत शांति को प्राप्त करेगा ये सारी तुलनात्मक भाषा है अत्यंत शांति यानी यहाँ की तुलना में अत्यंत शांति है स्वर्ग की वो शांति है जो सांसारिक सुख से मिलने वाली शांति है तो कहा वो सांसारिक सुख की शांति उसको अत्यंत मिलेगी जो इस प्रकार के अग्नि का आधान करेगा जो इस प्रकार के याग को करेगा तो उस यज्ञ को करने की यहाँ प्रेरणा दी गई वो दूसरे वर्ग के साथ ही संदर्भित बात है अगला श्लोक भी उससे संबंधित है पढ़ लें कहते हैं तृणाचिकेत त्रयम एतत् विदित्वा य एवं विद्वान चिनुते नाचिकेतम समृत्युपाशान पुरतः प्रणोद्य शोकातिगो मोदते स्वर्गलोकें अगला भी पढ़ लें एष ते अग्नि नचिकेत स्वर्गो यम था द्वितीयेन वरेण एतमग्नि तवेव प्रवक्ष्य जनासः तृतीय वरम नचिकेतो वृणीश्व तो कल जो बात मैंने कही थी यज्ञ में शिल्प विद्या के संदर्भ में तो शायद किसी ने शंका लिख के की थी शायद आपने की थी तो वास्तु वैदिक वास्तुशास्त्र के नाम से बहुत सारे ग्रंथ मिलते हैं उसमें से एक प्रसिद्ध ग्रंथ है मय संहिता के नाम पे मय संहिता वो तो मया से हाँ वही तो है जी वर्तमान में जैसे वास्तुशास्त्र वाले पुरोहित हैं वो बताते हैं ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ अपना कोई तो वैदिक हाँ वो वैदिक ही है वो मैं सही था तो, तो वैदिक तो पुरानी ही रहेगी और हाँ। नई कहाँ से आएगी ठीक है और भी है लेकिन वो संपूर्ण रूप से कोई ऐसी मिलती नहीं है एक कश्यप संहिता के नाम से है पूरी पूरी मिलती नहीं है वो चीज़ें श्लोक रूप में केवल मिलती है और यज्ञों के लिए यज्ञों के लिए तो बहुत सारे ग्रंथ है कात्यायन श्रोत है जी कात्यायन श्रोत सूत्र है गृह सूत्र है कल्प सूत्र है बहुत सारे ग्रंथ है हम्म, वो तो सारे मिलते हैं वो मैं मयासुर कोई पौराणिक नहीं है वो तो एक विधि है तो अब यहाँ पर इस श्लोक में कहा कि यह जो अग्नि के विषय में कहा गया तो सग्नि के ही लाभ यहाँ पर पुनः बताए गए कि ये जो अग्नि है वो कैसा है स्वर्गीय है यानी स्वर्ग को दिलाने वाला है और मृत्यु के बंधन से छुड़ाने वाला है पूरी तरह से छुड़ाना यह अर्थ यहाँ पर नहीं लेना इस प्रकरण में अपेक्षा से छुड़ाने वाला है शीघ्रता के साथ में जैसे मृत्यु पे मृत्यु शीघ्रता से प्राप्त होगी वैसा शीघ्र मृत्यु उसको प्राप्त नहीं होगी इतना ही अर्थ वहाँ पर लेंगे और उसमें बाद में कह दिया अंत में चल कर कि ये जो दूसरा वर पूछा था उस दूसरे वर के बारे में बता दिया गया वो अग्नि से संबंधित वर है बड़ा संक्षेप में तीन चार श्लोक के अंदर कह दिया है उसको क्योंकि वो यज्ञ इसका मुख्य विषय नहीं है इसका जो मुख्य विषय है वो ब्रह्म विद्या है इसलिए चार पांच श्लोक के अंदर समाप्त कर दिया उसको और कहा कि जो दूसरा वर आपने कहा था वो बता दिया अब तृतीय वरम नचिकेतो वृणेश्व कह रहे तीसरा जो वर है उसके बारे में अब तुम पूछो कि तीसरा वर क्या है तो दो वर हुए हैं पहला जो वर था वो अपने पिता से संबंधित था दूसरा जो वर था वो भौतिक अग्नि से संबंधित था यज्ञ का वो विषय था कर्मकांड का विषय था अधिक विस्तार से उसको जानना चाहेंगे तो यजुर्वेद में भी मिलेगा आपको ऋषि दयानंद का जो भाष्य है और शुरू के जो लगभग आठ दस अध्याय हैं वो सारे कर्मकांड की व्याख्याएं ही हैं वहाँ से भी काफ़ी कुछ जानने को मिल सकता है उसको आप यदि पढ़ेंगे तो तो अब तीसरे वर्ग की ओर चलते हैं और तीसरे वर में ब्रह्म विद्या का वर मांगा गया है कि अब नचिकेता कहता है कि मुझे ब्रह्म विद्या का उपदेश करिए इसकी जो पात्रता है वो सारी हम देख के आ चुके हैं अब जैसे मैंने पहले कहा कि ब्रह्म विद्या बहुत आसानी के साथ में उस उपनिषद काल के अंदर उपलब्ध नहीं होती थी पात्र व्यक्ति को देख करके ही वो विद्या दी जाती थी किसको देना है किसको नहीं देना है उसकी योग्यता पर वो निर्भर होता था आज की तरह इस प्रकार से प्रचार उसके नहीं होते थे जो वास्तव में जिज्ञासु है व्यवहार के लिए प्रयत्न करना चाहता है समय लगाना चाहता है जीवन लगाना चाहता है उसको विद्या दी जाती थी नहीं तो बिना पात्र पात्र का विचार किए विद्या दे दी भी जाएगी तो उसका कोई लाभ नहीं है एक माता जी सुबह मेरे पास आई कि मैं जाना चाहती हूँ कह रहे क्यों मैंने कहा कहा समाधि के विषय में सीखने आई थी मेरी समाधि लग गई अब मेरे को जाना है तो अच्छी बात है हमारी तो आज तक लगी नहीं आप, आपकी लग गई तो अच्छी बात है तो व्यक्ति के पात्र अपात्र को देख करके बहुत परीक्षण करके बड़े मुश्किल से वो विद्या दी जाती थी तो यहाँ वो चीज़ें हमको समझ में आएगी तो बीसवा श्लोक है कहते हैं या यम प्रयतम विचिकित्सा मनुष्य अस्ति इति एके न अयमस्ति इति च एके एतद्विद्याम् अनुशिष्ट त्वया अहम वर्णम एश वरस तृतीय अब कहते हैं प्रारंभ कहाँ से हुआ देखें और प्रारंभ ब्रह्म विद्या का यहीं से होगा कहाँ से होगा संशय से होगा कि एक बहुत बड़ा स्तर है कि व्यक्ति को संशय होने लग जाए जब तक संशय नहीं होगा तब तक वो कभी भी निश्चय पर भी नहीं पहुंचेगा निश्चयात्मक ज्ञान के लिए संशयात्मक ज्ञान का होना आवश्यक है ब्रह्म विद्या के क्षेत्र में वो क्या है कह रहे या यम प्रत्य प्रीति कह रहे मरने के विषय में विचिकित्सा ये संशय है मनुष्य के विषय में क्या संशय है अस्सी इति एक एक करे कोई कहता मरने के बाद भी है ये और दूसरे क्या कहते हैं ना अयम अस्सी एक दूसरे कहते हैं नहीं खत्म हो गया तो मरने के बाद में कोई कहता है कि है और कोई कहता है नहीं है तो ये मुझे संशय है वो है कि नहीं है तो ये मैं जानना चाहता हूं अब ये संशय कब होता है संशय यानी दो प्रकार का ज्ञान और दो प्रकार के ज्ञानों में से दोनों पर विचार करना है और उन दोनों के ऊपर बहुत विचार करने के बाद भी जब निश्चय ही नहीं होता है कि वास्तव में है कि नहीं है जैसे एक छोटा सा बालक है पाँच साल का उसको बोलो कि भाई आर्य समाज का दूसरा नियम उसको रटवा दो और बोलो ईश्वर के बारे में बताओ तो पूरा सुना देगा ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी पूरा सुना देगा वो लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आता है उसको पता सारा है समझ में कुछ नहीं आता है तो वो जहाँ जानकारियाँ होती हैं बहुत सारी हमको पता बहुत सारा होता है लेकिन उनमें से किसी बात पर विश्वास नहीं होता है तो वो क्या है अभी मात्र शाब्दिक ज्ञान है विचार करना व्यक्ति ने शुरू ही नहीं किया है जितना भी शाब्दिक ज्ञान है उस पर वो व्यक्ति जब विचार करना प्रारंभ करता है तब एक स्तर आता है जहां उसको संशय होता है वो व्यवहारिक स्तर पर जाने पर ही संशय होता है जब तक व्यक्ति व्यवहारिक स्तर पर जाने का प्रयास नहीं करेगा उसको कभी संशय नहीं होने वाला है जिस दिन ईश्वर को न्यायकारी मान करके अपने हरेक कर्म को न्यायपूर्वक व्यक्ति करने का प्रयास करना शुरू करेगा उस दिन उसको संशय होगा कि पता नहीं ईश्वर न्यायकारी है कि नहीं है और जब तक वो अपने हर एक कर्म को न्यायपूर्वक करने के लिए प्रयास नहीं कर रहा है उसको ऐसी भ्रांति होगी कि मैं जानता ही हूं ईश्वर न्यायकारी है लेकिन वास्तव में वो व्यक्ति भीतर से मानता भी हो कोई आवश्यक नहीं है तो इसलिए जहां विचार करना व्यक्ति प्रारंभ करेगा क्या वास्तव में ऐसा ही है क्या मैं आत्मा ही हूं या मेरी मृत्यु कभी होती ही नहीं है हर एक व्यक्ति जो भी ये जानता है कि मैं आत्मा हूं वो अपने क्रियाकलाप के जीवन के अंदर कई बार भयभीत होता हुआ मिलेगा मृत्यु से तो मालूम तो है कि मैं आत्मा हूं फिर भी मृत्यु का भय है थोड़ा सा कोई रोग हो जाए तो देखिए कितना तनाव हो जाएगा मानता जानता तो है कि मैं आत्मा हूं रोग मुझे तो होते नहीं हैं लेकिन वो तनाव है इसका मतलब मिथ्याजान बना ही हुआ है बहुत ज़्यादा बना हुआ है तो जानना एक अलग बात है लेकिन उस विषय को व्यवहारिक स्तर देने का प्रयास करना वो अलग बात है और संशय उसके बीच की कड़ी है उस संशय के निवारण के लिए कहीं ना कहीं किसी अन्य अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता होती है स्वयं उस संशय का निवारण व्यक्ति कर नहीं सकता है उस संशय के निवारण के लिए कहीं ना कहीं उसको जाना है अपने से योग्य व्यक्ति के पास जाना है और जब अपने से योग्य व्यक्ति के पास जाना है तो उस योग्य व्यक्ति के अनुशासन को स्वीकारना होगा वहां अपनी शर्तें लेकर व्यक्ति नहीं जा सकता है स्कूल में जाए अपने शर्तें लेकर मैं तो ये वाले कपड़े पहन के जाऊंगा आपके स्कूल के ड्रेस पहन के नहीं आऊंगा मैं तो इस टाइम पे आऊंगा आपके टाइम पे नहीं आऊंगा मैं तो ये वाला सब्जेक्ट पढ़ूंगा ये नहीं पढ़ूंगा वो कहेगा तुम घर में बैठे रहो यहाँ आने की आवश्यकता नहीं तो अपने से योग्य व्यक्ति के पास जब व्यक्ति सीखने जाएगा तो उसका अपना अनुशासन होगा उस अनुशासन को बिना किसी प्रकार की प्रतिक्रिया किए वैसे का वैसा स्वीकारना होगा और स्वीकारता ही व्यक्ति लौकिक क्षेत्र में स्वीकारता ही है जहाँ जैसा भी होगा स्वीकारता है तो उस आध्यात्मिक क्षेत्र में भी ऐसा ही होगा संशय आया योग्य व्यक्ति की शरण में जाएगा योग्य व्यक्ति परीक्षा करेगा अपने अनुशासन में रखेगा उसको स्वीकार करना होगा तो यहाँ पर संशय हुआ नचिकेता के मन में कि मरने के बाद में वो है कि नहीं है और प्रार्थना की एतत् विद्याम अनुशिष्ट करे इस विद्या को आप मुझे दीजिए ये मुझे बताइए वर्णम एश वरस तृतीय करे इन वरों में से यह तीसरा वर मैं मांगता हूँ कि मुझे ब्रह्म विद्या का उपदेश आप कीजिए ये मैं आपसे उपदेश चाहता हूँ तो अब देखें यमाचार्य उसके इस वर को किस प्रकार से देते हैं तो कहते हैं देवई अत्र अपि विचिकित्सित पुरा न सुविजय सुविज्ञेय धर्म अन्यम वरम नचिकेतो वृणीष्व मा मा उपरोसी इति मा सृज एनम अब उसको उपदेश देना प्रारंभ नहीं कर दिया परीक्षा लेना प्रारंभ की क्योंकि ब्रह्म विद्या का उपदेश वहां पर सार्थक है जहां व्यक्ति निर्विकल्प है उसके पास में विकल्प कुछ नहीं है बस वो ब्रह्म विद्या ही सीखना चाहता है और जहां निर्विकल्प व्यक्ति है वही सीख भी सकता है व्यवहारिक स्तर पर पहला तो शाब्दिक स्तर ही होगा उसके बाद में संशय वाला स्तर आएगा और तीसरा स्तर व्यवहारिक स्तर आएगा संशय भी अभी वैचारिक स्तर ही है तो अब उसको यमाचार्य कहते हैं कि भाई क्या पूछ रहे हो कह रहे ये जो विषय है वो कैसा है देवई अत्र अपिविचिकित्सकम पुरा कह रहे प्राचीन काल में जो देव थे विद्वान लोग थे उनको भी संशय हो गया था इस विषय में तो इस विषय में उनको भी ज्ञान नहीं था विद्वान थे थे लेकिन मृत्यु के बाद में कोई रहता है कि नहीं रहता है उस पर तो उनको भी संशय था अपने विषय में हम थोड़ा देखने का प्रयास करेंगे तो हमको लगेगा इसमें क्या संशय है आत्मा तो होता ही है तो जो भी बात यहाँ पे की जा रही है सारी व्यवहारिक स्तर पर की जा रही है शाब्दिक स्तर पर मैं प्रश्न पूछूं शाब्दिक स्तर पर आप उत्तर दें वो हमारा जो ज्ञान है वो सारा शाब्दिक है लेकिन एक व्यक्ति व्यवहारिक स्तर पर जाकर के उसी प्रश्न को पूछता है और दूसरा व्यवहारिक उत्तर अपने जीवन में उतरने वाला उत्तर लेकर के आता है वो बिल्कुल एक अलग ही स्तर है जीवन का तो कहते हैं भाई देवताओं को भी जो श्रेष्ठ लोग थे उनको भी इस विषय पे शंका हो गई थी प्राचीन काल में नहीं सुविजय हम करें बड़े कठिनाई से जानने योग्य समझने योग्य विषय आसान नहीं है छोड़ दो इसको अणुएश कह रहे बहुत सूक्ष्म है ये सुविजयम कठिनाई से जानने योग्य है कठिनता से समझ में आएगा आसानी के साथ में समझ में नहीं आएगा और कैसा है अणु सूक्ष्म है ये विद्या सूक्ष्म है इसलिए क्या करो अन्यम वरम नचिकेतो करे कुछ और मांग लो इसको छोड़ो तो इसको छोड़ करके कुछ और मांग लो करे माँ माँ ऊपर उपरसी करे मेरे ऊपर दया करो मैंने तुमको वर मांगने को कह कह दिया तो मैं तुम्हारा ऋणी हो गया हूं लेकिन जैसे ऋणी व्यक्ति को दबाते हैं ऐसा मेरे को मत दबाओ ऐसा मेरे साथ में मत करो दया करो मेरे ऊपर और कहा कि माँ सृजय इनम इसको छोड़ करके और कुछ मांग लो इस वर को तुम मत मांगो तो ये एक परीक्षा की जा रही है उसको उसकी जटिलताएं बताई जा रही कि बड़ा कठिन है इसको छोड़ दो इस मार्ग में मत आओ ये मार्ग बड़ा कठिन है उसको अच्छी प्रकार समझाया जा रहा है जो भी व्यक्ति आध्यात्म की ओर आता है ब्रह्म विद्या की ओर आता है उसके सामने ये सारी कठिनाइयाँ आएंगी जिस दिन व्यक्ति घर छोड़ के आने का विचार करेगा उस दिन उसको डराने वाले लोग बहुत मिलेंगे कहाँ जा रहे हो खाने को नहीं मिलेगा कोई ठिकाना नहीं है आश्रमों का जीवन ऐसा ही है ये है वो है दुनिया भर के डराने वाले लोग मिलेंगे और वहाँ व्यक्ति डर गया तो वो वहीं बैठा रहेगा आगे नहीं आएगा और आगे चलेगा तो और ऐसे ही लोग मिलेंगे कृष्णानंद ने कितने वर्षों तक गुरु की खोज करते रहे करते रहे करते रहे तब जाकर के उनको कई वर्षों के बाद जाके गुरु मिले तो ऐसे ही यहां पर प्रलोभन दिए जाएंगे आगे चल करके कि भाई इसको छोड़ दो और कुछ मांग लो तो वास्तव में ये एक परीक्षा ही है सारा परीक्षा का अंग है कि इसको छोड़ के ये ले लो वो ले लो ऐसा ले लो व्यक्ति की दृढ़ता देखी जा रही है वो कितना दृढ़ है कितना पक्का है यहाँ भी प्राय जब दर्शन विद्यालय में पढ़ते थे तो ऐसा ही प्रवेश होता था वहाँ भी कहते थे व्याकरण पढ़ने चले जाओ ये कर लो तो कई प्रकार के प्रलोभन वहां भी होते थे जब व्यक्ति कहता था मुझे कहीं नहीं जाना है ना व्याकरण पढ़नी है ना ये करना है बस मुझे तो यहीं रहना है तब जाकर के उस व्यक्ति का वहां पर प्रवेश होता था और ऐसे ही यहां पर कह रहे हैं कह रहे हैं कि अन्यम वरम ऋणीश्व क्योंकि देवताओं को भी यहां पर शंका हुई थी तो तुम इस वर को छोड़ दो तो अब उसकी दृढ़ता अगले श्लोक में देखते हैं वो क्या कहता है कह रहे देवई अत्रापि विचिकित्सित किल तम च मृत्यु यत्र सुविजयम आथ वक्ता च त्वादृक् अन्यो न लभ्यो नान्यो वरस्तुल्यम एतस्य कश्चित वो भी दृढ़ है अपने वर्ग के अंदर वो कहता है भाई आप खुद ही कह रहे हो देवताओं को भी संशय हुआ था इसमें मैं जिस प्रश्न को पूछ रहा हूँ उसके उत्तर में आप कहते हैं कि देवई अत्रापि विचिकित्सितम के स्थितम किल कि जब देवताओं को भी संशय हुआ था तो कह रहे त्वम च मृत्यु और तुम आप खुद कह रहे हो क्या कह रहे हो यन्न सुविजयम कह रहे कि इसको आसानी के साथ में नहीं जाना जा सकता ये तो आप बात खुद ही कह रहे हो तो जिस बात को मैंने कहा उसके विषय में आप खुद ही मेरे को बता रहे हो कि इसमें संशय तो देवताओं को भी हुआ था और ये आसानी से जाने जाने वाला विषय नहीं है ये आपने खुद भी कहा कि यन्ना सुविजयम कह रहे जब ये विषय कठिन है और बड़े बड़े देवताओं को भी इसमें संशय हो गया कह रहे वक्ताचा से त्वादरिक अन्योनलभ्य अब इसको मैं पूछने और कहा जाऊं कह रहे वक्ताचा से इसको बताने वाला जो वक्ता है त्वादरिक अन्य तुम्हारे से अन्य तो कोई मिलने वाला नहीं है कि आपसे अन्य कोई दूसरा कोई वक्ता मिल जाए इस बात को बताने वाला ऐसा कहाँ ढूंढने जाऊंगा मैं आपसे अच्छा और कौन मिलेगा तो आप ही हैं जो मेरे इस संशय को दूर करने में सक्षम हैं और आपसे ही पूछा जा सकता है कठिन है तो आप ही तो समझाएंगे कठिन कठिन विषय को और कौन समझाएगा आपसे योग्य तो मुझे कोई दिखता नहीं है और संशय तो मुझे है और उस संशय का निवारण करने में सक्षम आप ही हैं तो कहते हैं ना अन्यो वरस्तुल्य कर एतस्य कह रहे कि इसके समान वर तो मुझे और कोई दिखता ही नहीं है एतस्य कश्चित करे और क्या वर मांगू मैं आपसे और कुछ नहीं चाहिए मेरे को मेरे को तो यही चाहिए और यही वर मैं आपसे मांगना चाहता हूँ मुझे और कुछ नहीं चाहिए तो ये वर आप मुझे दीजिए कि ब्रह्म विद्या का उपदेश करिए आत्मा है कि नहीं है आत्मा होता है कि नहीं होता है इस विषय में आप मुझे बताइए ये वहाँ पर प्रार्थना की गई तो और आगे चल के प्रलोभन देते हैं क्या कहते हैं शतायुष पुत्र पौत्रान वृणीश्व बहून पशून हस्ती हिरण्यम अश्वान भूमेर महद आयतनम वृणीश्व स्वयं च जीव शरदो यावद इच्छसी और दुनिया भर के प्रलोभन दे रहे कह रहे शतायुष पुत्र पौत्रान वृणीश्व कह रहे सौ साल की आयु वाले पुत्र और पौत्र को मांग लो तो वो खुद भी तो रहेगा ना पुत्र और पौत्र सौ सौ वर्ष के हैं तो उसकी आयु भी तीन सौ वर्ष की तो हो ही जाएगी तो कहते हैं इतने दीर्घ आयु वाले पुत्र और पौत्रों को मुझसे मांग लो मैं वो सारे उपाय बता दूंगा जिससे तुम भी खूब दीर्घ काल तक जीवित रहोगे और तुम्हारे पुत्र पौत्र भी दीर्घ आयु तक जीवित रहेंगे इससे बढ़ के सांसारिक सुख और क्या चाहिए तो ये एक बहुत बड़ा सांसारिक सुख तुमको मिल जाएगा कह रहे बहुन पशुन पशुओं का बड़ा महत्व था उस समय कह रहे हस्ती हिरण्य अश्वान कह रहे हाथी हिरण अश्व अनेक अनेक असंख्य पशुओं को तुम उससे मांग लो भूमेर महद आयतनम जितनी भूमि चाहिए वो मुझसे तुम मांग लो वृणीश्वर और कहा स्वयं च जीव शरदो और यावत इच्छा से जितना तुम जीना चाहते हो उतनी आयु मुझसे मांग लो कह रहे इसको छोड़ दो तो ये जो वर है ब्रह्म विद्या का ये छोड़ दो और दीर्घायुष्य मांग लो पुत्र पौत्र की कामनाएं कर लो संपत्ति मांग लो भूमि मांग लो जितना भी सांसारिक सुख इस संसार में अधिकतम मिल सकता है वो सब कुछ तुम मुझसे मांग लो लेकिन ये ब्रह्म विद्या का उपदेश तुम छोड़ दो यानी व्यक्ति को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है वह अस्थिर हो जाए तो फिर आवश्यकता ही नहीं ब्रह्म विद्या को देने की तो उसकी स्थिरता को देख रहे वास्तव में ये स्थिर बुद्धि वाला है कि बस ऐसे मन किया तो आ गया है तो यदि स्थिर होगा तो फिर आगे उपदेश किया जाएगा और स्थिरता नहीं है मति के अंदर तो वही व्यक्ति डिग जाएगा लोभ में आ जाएगा और इस प्रकार के संस्कारों को कितना उसने विजय पा लिया है उसका वैराग्य कितना है वो सब चीज़ें देखी जा रही हैं तो ब्रह्म विद्या के लिए सारी पात्रताएं व्यक्ति की होनी चाहिए कि एक तरफ से बिल्कुल वो हटा हुआ होना चाहिए कि बस उधर मेरे को जाना ही नहीं कुछ भी मिलता रहे वहाँ पर कितना ही सुख मिले कितना ही दीर्घायुष्य मिले कितना ही सांसारिक सुख मिले प्रलोभन मिले उस प्रलोभन से जो बिल्कुल डिग नहीं सके वही व्यक्ति व्यवहारिक स्तर पर ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर सकता है लेकिन जो प्रलोभन के आने पर डिग जाएगा वो आगे ब्रह्म विद्या की ओर कभी बढ़ नहीं सकता है तो ये जिसके अंदर ऐशनाएं हैं लोकेशनाएं हैं वित्तेष्णाएँ हैं यशेष्णाएँ हैं तो ये सारा देखा जा रहा है तो अन्य वर्ग के लिए कहा कि भाई अन्य वर्ग मैं ही तुमको कुछ बता रहा हूँ ये है वो है वो है कई सारी चीज़ें अभी और भी कई सारी चीज़ें आएंगी तो उन प्रलोभनों से वो बाहर निकल जाएगा तो ब्रह्म विद्या उसको दी जाएगी और नहीं है तो फिर जहाँ रुक गया वहीं तक ठीक है तो ये कुछ बातें हैं कल की एक कक्षा और भी है जितना कर सकेंगे करेंगे ओ